परम पिता परमात्मा का स्मरण सर्व सुख प्रदाता सब पूर्ति करने वाला परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों अपने लक्ष्य को सामने रख करके जो व्यक्ति चलता है उसे साधनों की भी आवश्यकता अनिवार्यता प्रतीत होती है और वो अपने साधनों को और अधिक अच्छा करना चाहता है उसके लिए प्रयत्न करता है मनुष्य जीवन के लक्ष्य को सफल करने के लिए हमें किन चीजों की प्रार्थना करनी चाहिए कामना करनी चाहिए और किससे करनी चाहिए वो इस मंत्र के अंदर बताया गया है आज का मंत्र यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का सत्रहवा मंत्र है और महर्षि दयानंद के द्वारा संकलित आर्यभिविनय के द्वितीय प्रकाश का तैतीसवां मंत्र है इस मंत्र का देवता अग्नि है अग्नि यानी परमात्मा और अग्नि ये भौतिक अग्नि भी होती है लेकिन यहां व्याख्या में परमात्मा को संबोधित करके ये प्रार्थना की जा रही है परमात्मा अग्रणी है प्राप्त करने योग्य है हमारा मार्गदर्शक है हमारे लिए सब चीजें उपलब्ध कराता है ऐसे उस अग्नि से उसकी स्तुति करते हुए प्रार्थना की जा रही है जिस चीज की प्रार्थना की जा रही है उसको वो देने वाला या उसकी रक्षा करने वाला है ये समझ करके प्रार्थना की जा रही है पहली है तनुपा अग्नेसी तनवम में पाही हे अग्ने हे परमात्मा आप तनुपाह हैं तनु की रक्षा करने वाले हैं शरीर की रक्षा करने वाले हैं आप शरीर की रक्षा करते हैं तनु शरीर को कहते हैं ये विस्तार के अर्थ वाली धातु है जिससे हम कर्मों का विस्तार करते हैं तनोति कार्याणी यया सा तनु जिसके द्वारा हम अपने कर्मों का विस्तार करते हैं उसे तनु कहते हैं तो आर्य और एक श्रेष्ठ पुरुष जो कि कर्मशील है उद्यमशील है पुरुषार्थ करता है मेहनत करता है वो इस शरीर के बारे में कह रहा है यह परमात्मा आप इस शरीर की रक्षा करने वाले हो तनु की जिससे मैं कर्म करता हूं उसकी आप रक्षा करने वाले हो और चूंकि आप रक्षा करने वाले हो तो मैं तनवम पाही मेरे इस शरीर की आप रक्षा करें जो व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार नहीं करते वे तो अपने शरीर का रक्षक स्वयं को भी मानते हैं और अन्य परिजनों को या आरक्षी बल को व्यवस्थाओं को राष्ट्र को उसका रक्षक मानते हैं और जो लोग ईश्वर को मानते हैं वे भी इन सबको शरीर का रक्षक पालक मानते हैं कुछ व्यक्ति केवल अपने को ही अपने शरीर का रक्षक मानते हैं कुछ औरों को भी मानते हैं वो सब होते हुए भी इस आर्य को श्रेष्ठ मनुष्य को ये समझ में आ चुकी है कि परमात्मा इस शरीर का रक्षक है उसने इसे उत्पन्न करके दिया है इसके साथ ये इसकी रक्षा भी करता है ये आर्य ये जानता है कि मैं कितना भी पुरुषार्थ करूं शरीर की रक्षा के लिए केवल उतना मेरी रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है जैसे वो परिवार की समाज की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा रखता है अच्छे खाद्य पदार्थों की अपेक्षा रखता है कि इनसे मेरा शरीर रक्षित होगा इसी तरह वो ये भी स्वीकार कर चुका है कि परमात्मा की रक्षा से ही ये रक्षित होता है परमात्मा इसकी रक्षा कर रहा है परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार भी इसकी रक्षा करता है और वो चूंकि हमारा पिता है उसने जिस उद्देश्य से ये शरीर बनाया है उसको बनाए भी रखना चाहता है परमात्मा ने इस शरीर में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं जिससे ये शरीर रक्षित रहता है सुरक्षा के बहुत से तंत्र शरीर में है यदि बाह्य सूक्ष्म जीवाणुओं विषाणुओं का आक्रमण होता है वो प्रविष्ट करते हैं तो उनके लिए रक्षा तंत्र बना हुआ है मुख में बना है शरीर के विभिन्न अवयवों में बना हुआ है सुरक्षा चौकियां बनी हुई हैं जहां कहीं चोट होती है संक्रमण होता है वहां पास पास में एक गांठ सी बन जाती है पीड़ा होने लगती है वो हमारी अंदर की सुरक्षा चौकियां हैं जो कि उस संक्रमण से लड़ते हुए कुछ सूझ जाती है पीड़ा होती है गले में है अंदर का चक्रस वो हमारी रक्षा करते हैं नाक से श्वास लेते हैं तो नासिका की रचना ऐसी है कि वो हमारी रक्षा करती है धूल मिट्टी को रोकती है जीवाणुओं को रोकती है हवा ठंडी हो तो उसको गर्म करती है रूखी हो तो उसको थोड़ा नमी से युक्त करती है ताकि हमारा शरीर फेफड़े ठीक रहे और अंदर भी जो गंदगी उत्पन्न होती है उसको निकालना है व्यवस्थित रखना है हर जगह सुरक्षा तंत्र और उसको व्यवस्थित बनाए रखने के लिए उपाय किए गए इस सबको देख करके एक श्रेष्ठ मनुष्य ये सोचता है कि ये व्यवस्था मैंने तो नहीं की है और न अन्यों ने बनाई है लेकिन व्यवस्था तो बहुत चल रही है घाव होता है तो वो अपने आप भरता है खून निकलता है तो वो अपने आप रुकता है जो रोगण है उनकी अलग बात है लेकिन व्यवस्था है औषधियों आदि से हम केवल बाहर से हानि को रोकते हैं लेकिन घाव तो अंदर से ही भरता है वो कोई चिकित्सक नहीं भरता है हड्डी टूटती है तो वो जुड़ती है वो अंदर से ही जुड़ती है कोई चिकित्सक नहीं जोड़ता है चिकित्सक तो उसको एक स्थान पर उचित जगह पर लगा देता है बाकी जुड़ना अंदर स्वयं होता है ये सारी की सारी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है इसलिए ये आर्य परमात्मा को कह रहा है तनुपा अग्ने असी हे अग्ने आप इस शरीर की रक्षा करने वाले हो आप करते हो और आप इसी प्रकार तनव में पाही मेरे शरीर की रक्षा करते रहे परमात्मा कर रहा है और परमात्मा की रक्षा का लाभ आर्य को अनुभव आ रहा है और ये मानता है अंदर से कि परमात्मा अगर ये व्यवस्था न करे तो मैं एक दिन भी नहीं जी सकता स्वस्थ नहीं जी सकता और प्रार्थना अब कर रहा है कि हे प्रभु आपकी इस रक्षा को पाके ही मैं ये जीवन चला पा रहा हूं अपनी उन्नति कर रहा हूं दोषों को हटा रहा हूं इस व्यवस्था को मेरे लिए बनाए रखें आप मेरे लिए उपकारी बने हुए हैं ये स्वीकार का भाव इस मंत्र में है इस पंक्ति में है ये केवल ऐसी प्रार्थना नहीं है कि हम परमात्मा से और अधिक रक्षा की कामना कर रहे हैं वो भी चाहते हैं लेकिन जो रक्षा परमात्मा की चल रही है उसे हम बनाए रखना चाहते हैं हम उसकी आवश्यकता को अनिवार्यता को अनुभव करते हैं और वह परमात्मा के द्वारा की जा रही है ये भी हम अनुभव कर रहे हैं परमात्मा के अलावा और कोई इन रक्षाओं को करने वाला नहीं है परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए ये प्रार्थना की जा रही है हे प्रभु इसको बनाए रखें मेरे शरीर की आप इसी प्रकार रक्षा करते रहें आपकी रक्षा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता तो हे अग्नि तनुपासी में तनवम पाही अगली पंक्ति में कहा आयुर्दा अग्नि असी आयुर में देही हे अग्नि संबोधन वही है अग्नि को आयुर्दा अग्नि असी हे अग्नि आप आयु को देने वाले हैं ये जीवन उसके लिए काल ये भी आप देने वाले हैं आयुर्मे दे मेरे को भी आयु प्रदान कीजिए और आयु प्रदान कीजिए दीर्घायु मुझे कीजिए आयु क्या होती है जो सबको प्राप्त होती है सबको व्याप्त करती है उसे आयु कहते हैं इन गतव धातु से एति प्राप्नोति सर्वान इति आयु सकारांत नहीं आयु अकारांत कोई भी वस्तु हो कार्य वस्तु हो उसके साथ उसकी आयु उसका जीवन काल जुड़ा हुआ है उसके बिना कोई होती ही नहीं है वस्तु वो कितने समय चल सकती है कितने समय कार्य कर सकती है कितने समय अपने रूप में स्थित हो सकती है सबके साथ में आयु जुड़ी हुई है तो जो सबके साथ में जुड़ा हुआ है सबको प्राप्त है वो आयु मेरे इस शरीर के साथ मैं जो ये जीवन चला रहा हूं उसमें भी ये जुड़ी हुई है और आयु शब्द सकारांत भी है ईयते प्राप्यते यत्त जो प्राप्त किया जाता है वो भी जीवन काल तो परमात्मा को कह रहे हैं हे प्रभु आपने ये जीवन काल दिया है आप इसको देने वाले हो मेरे को जीवन काल इसी प्रकार देते रहिए मेरा जीवन लंबा हो जिससे मैं इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकूं पिछली वाली प्रार्थना में रक्षा की बात की गई थी पा धातु थी पालन रक्षा की बात की गई और इस वाक्य में दा देने की बात की गई क्योंकि शरीर एक बार हमें प्राप्त हो चुका है अब यहां कोई दूसरा शरीर प्राप्त होने वाला नहीं है ये शरीर बदलेगा नहीं इसलिए उसको देने की यहां पर प्रार्थना नहीं की गई ये तो प्राप्त हो चुका है इसकी तो रक्षा की बात की गई लेकिन आयु को तो प्राप्त करने की बात की गई कि आयु को दीजिए यद्यपि हमें आयु मिली हुई है हमारा जीवन चल रहा है लेकिन फिर भी परमात्मा आयु को देता है आयु को बढ़ाता है यदि ये शरीर तो मिल जाए सुरक्षित शरीर मिल जाए बहुत अच्छा शरीर मिल जाए लेकिन काल ना मिले समय ना मिले तो इस शरीर का प्राप्त होना विशेष उपयोगी नहीं होगा आर्य को यह पता है कि इस अच्छे शरीर को पा करके मुझे लंबे काल तक जीना है मुझे अभी ये ये करना है मुझे अभी ये, ये सुधार करने हैं इसलिए वो काल की भी अपेक्षा रखता है और परमात्मा ही आयु देता है वो ही हमें लंबा चलाता है जो परमात्मा की आज्ञाओं के अनुरूप चलते हैं उनकी आयु लंबी होती है परमात्मा ने ये तंत्र ही ऐसा बना रखा है कि यदि उसके नियमों के अनुसार चलेंगे तो आयु बढ़ती है लंबी होती है पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं तो परमात्मा से इस भावना को रखते हुए कहा गया कि आप जीवन बढ़ाते हैं मुझे जीवन की आवश्यकता है लंबे काल की आवश्यकता है वो मुझे इसी प्रकार देते रहिए आप दे रहे हैं और देते रहिए ये जीवन का काल तो कोई भी हमें नहीं देता है केवल परमात्मा ही देता है रक्षा तो और भी दे देते हैं लेकिन आयु और कोई नहीं देता व्यवहार में हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने मुझे जीवन प्रदान किया चिकित्सक ने जीवन प्रदान किया क्षत्रिय ने मुझे रक्षा दे करके जीवन प्रदान किया आयु प्रदान की उन्होंने तो रक्षा की है हम मरते मरते बचे हैं किंतु उसके बाद जो ये जीवन चल रहा है वो कौन चला रहा है वो चिकित्सक नहीं चला रहा वो क्षत्रिय नहीं चला रहा ये तो अन्य व्यवस्था से चल रहा है तो वो आयु केवल परमात्मा ही देने वाला है आगे कहा वर्चोदा अग्नेसी वर्चो में देही वर्चस कहते हैं तेज को दीप्ति को विज्ञान की ज्ञान की दीप्ति की बात यहां पर की गई कि हे परमात्मा आप ज्ञान को देने वाले हो विज्ञान को देने वाले हो और मुझको ये देते रहिए मुझे इसकी आवश्यकता है शरीर की रक्षा की आवश्यकता बिना आयु के शरीर का कोई उपयोग नहीं इसलिए आयु की कामना जीवन की कामना और शरीर आयु प्राप्त करके यदि ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो भी ये व्यर्थ है सामान्य जीवन इसलिए उस ज्ञान की कामना की जा रही है जिससे कि अंतिम लक्ष्य पूरा हो जिससे कि ये तनु ये शरीर सार्थक हो जिससे कि ये जीवन सार्थक हो इसलिए क्रम में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कहा वर्चोदा अग्निसी वर्चो में देही परमात्मा हमें ज्ञान देता रहता है जैसे परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया है ऐसे ही अंतःकरण में भी वो हमें प्रेरणा दे करके ज्ञान देता रहता है हमें विभिन्न अवसरों पर दिशा निर्देश करता रहता है हम यदि उसे सुनना चाहें जानना चाहें अपनी इच्छाओं को और अपने ज्ञान को हटा करके देखें तो परमात्मा की ओर से हमें प्रेरणा भी मिलती है अच्छे बुरे का भेद भी पता लगता है संशय की स्थिति में संशय निवारण होता है परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार हमें ये ज्ञान देता है और कृपा करके भी देता है जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति है आगे बढ़ता है समाज में धर्म की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है वैदिक धर्म की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है स्वयं अपना जीवन अच्छा बना रहा है उसको परमात्मा की सहायता मिलती ही है उसकी ओर से ज्ञान मिलता ही है क्योंकि परमात्मा भी चाहता है कि इस धरती पर आर्यों का राज्य हो आर्य फैले उनके कर्म पुरुषार्थ के अनुरूप परमात्मा उन्हें ज्ञान देता है तो वर्चोदा अग्नि सी वर्चो में देही आगे फिर एक और प्रार्थना की अग्ने यन में तनवा ऊनम हे अग्ने यत में तनवा जो कुछ भी मेरे इस शरीर का ऊनम दोष है न्यूनता है शरीर की न्यूनता है उसको तन्म आप मेरे को पूर्ण कर दीजिए उस न्यूनता को हटा दीजिए जो भी मेरे जीवन में इस शरीर में गड्ढा है दोष है कमी है उसको पूरा कर दीजिए यानी दूर कर दीजिए यहां तनु का अर्थ करते हुए महर्षि ने भाष्य में अंतकरणा को भी लिखा है यहां पर भी शरीरादि करके आदि शब्द भी जोड़ा है तो परमात्मा अंतकरण के दोषों को भी दूर करता है और हमारे शरीर के दोषों को भी दूर करता है वेद की एक पंक्ति आती है नेन्द्राद्रिते पवते धाम किंचन इस धाम को हृदय धाम को इंद्र के परमात्मा के अतिरिक्त तो कोई भी पूर्ण शुद्ध नहीं कर सकता परमात्मा की सहायता से हम अपने हृदय को पूर्ण पवित्र कर पाते हैं पूरा बना पाते हैं तो अंतकरण और शरीर दोनों के लिए परमात्मा से प्रार्थना है कि मेरी हर न्यूनता दूर हो आर्य जानता है कि मेरे अंदर बहुत सी न्यूनताएं हैं जितना परमात्मा ने उपलब्ध कराया है उससे मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं और यदि ये ये न्यूनता और दूर हो जाए तो मैं और अधिक प्रगति करूंगा और अधिक परमात्मा की आज्ञाओं का पालन कर सकूंगा इसलिए हर न्यूनता को दूर करने के लिए प्रार्थना की गई जो ऊंचे लक्ष्य के लिए लगा हुआ होता है वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है मुख्य बातों को तो अपनाता ही है लेकिन और अधिक प्रगति के लिए और अधिक ऊंचाई पर जाने के लिए वो छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखता है और उसके लिए प्रयत्न करता है प्रार्थना करता है महर्षि ने यहां पर मांग के अनुरूप परमात्मा को विशेषण दिए हैं हे सर्व रक्षकेश्वर अग्नि सबकी रक्षा करने वाला सब तरह से रक्षा करने वाला ईश्वर आयु के लिए कहा तो महावैद्य जैसे वैद्य चिकित्सा करता है स्वास्थ्य की रक्षा करता है आयु देता है ऐसे ही परमात्मा भी आयु को देता है वो भी हमारा वैद्य है और सबसे बड़ा वैद्य है और परमात्मा को बहुत अधिक आत्मीयता के साथ में महर्षि ने लिखा एक भावना के रूप में कि यदि हमारे में दोष है तो आपका भी यश और शोभा नहीं होगी परमात्मा तो करता ही है ऐसा परमात्मा तो रक्षा करता ही है और इसलिए परमात्मा शोभायमान है लेकिन ये एक भाव के रूप में कथन है परमात्मा की शोभा है और परमात्मा ही सुख देने वालों में पूर्ण है अन्य व्यक्ति भी हमें सुख देते हैं लेकिन परमात्मा जो सुख देता है वो पूर्ण सुख देता है पूरी तरह पूरा करता है इस रूप में परमात्मा से यहां पर प्रार्थना की गई इसके साथ में हमारा पुरुषार्थ तो जुड़ा ही है पुरुषार्थ हम कर ही रहे हैं लेकिन परमात्मा से प्रार्थना भी कर रहे हैं और परमात्मा ये सब देता है परमात्मा ये आगे भी इसी प्रकार देता रहे मुझे इनकी आवश्यकता है मुझे इनकी उपयोगिता पता है नहीं तो एक सामान्य व्यक्ति कुछ वर्षों के बाद में इस ओर से उदासीन हो जाता है शरीर के प्रति आयु के प्रति आयु की वो कामना नहीं करता सामान्य रूप से बोलता है ठीक है जीवन चल रहा है तब तक चल रहा है यानी जब तक चल रहा है तब तक जीते रहेंगे उसके आगे की कामना नहीं है जैसे तैसे जीवन चला रहे हैं लेकिन जिसने अपना लक्ष्य बना रखा है मुझे ये ये चीजें करनी है अपने को इस स्थिति में पहुंचाना है वो इस जीवन की कामना अवश्य करेगा वो ऐसा वचन कभी नहीं बोलेगा कि चल रहा है जैसा चल रहा है वो जितना मिला है उसको पूरा उपयोग करेगा और भी कामना करेगा ऐसी कामना आर्यों को करनी चाहिए कर सकते हैं शरीर की कामना करना भौतिकवाद नहीं है आयु की कामना करना भोगवाद नहीं है ज्ञान की कामना करना लोकेशना नहीं है इन साधनों का उपयोग हमें इस जीवन में उन्नति के लिए और मुक्ति की प्राप्ति के लिए करना है इसलिए ये प्रार्थना की गई है कुछ अच्छा परमेश्वर को पिता का हम्म। और ऊपर है कि तू हमारे शरीर का रक्षक है और सो हमारे शरीर को कृपा से पालन कर तो कर कहा हमारे तो हम जैसा हैं तू कर और वो जो परमेश्वर तो आप चाहिए और कीजिए हाँ। देखिए इसमें जो असी है ना ये मध्यम पुरुष का प्रयोग है जिसको हम सामने वाले को बोलते हैं तुम आदि आजकल ऐसी स्थिति बनी है कि हम भाषा के अंदर तुम या तू का प्रयोग करते हुए हीन भाव समझते हैं और आपके प्रयोग को हम अच्छा समझते हैं ठीक है आपसे आदर भी होता है लेकिन त्वम का प्रयोग भी किया जा सकता है आत्मीय के साथ ये कोई सामने वाले को नीचा मान करके नहीं कथन है आत्मीयता में त्वम का प्रयोग भी होता है अन्य बहुत सी भाषाएं जिसके अंदर आप और तू का कोई भेद नहीं होता है सबको एक ही बोला जाता है मराठी में बोला जाता है कहीं आपको बोलते हैं अंग्रेजी में बोला जाता है सबको वहां आप और तू का वाला भेद नहीं है तो हम सामने संबोधित कर रहे हैं परमात्मा को उसको स्वीकार करते हुए और कर ये एक आग्रह को बताता है जैसे छोटा बच्चा माता पिता से आग्रह करता हो तो ऐसे हम कर सकते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है हाँ हमारी कीजिए ऐसा भी कहा है कि हमको सुख दीजिए और यहाँ पे ये भी कहा है कि मुझको सुख उत्तम आयु दीजिए हम्म। तो मुझको भी कहा है और हमको भी कहा है तो हर जगह अगर हमको भी कहा जाए तो ठीक है कर सकते हैं लेकिन मैं जो ऊपर लिखा है मंत्र में बार बार आया है तनव मे पाही ये तो एक वचन है तो ऊपर के जो हैं वो एक वचन में है लेकिन ये प्रार्थना चूंकि हम सबको करनी है इसलिए हम सबके लिए भी कर सकते हैं मंत्र में एक वचन है उसको अपने लिए भी कर सकते हैं और औरों के लिए भी कर सकते हैं हम सबके लिए भी कर सकते हैं वेद मंत्रों के उस तरह से अर्थ किए जा सकते हैं और जो प्रार्थना हम एक के लिए कर रहे हैं वो हम सबके लिए भी कर सकते हैं हमारे और कई बार व्यक्ति अपने अकेले के लिए भी हम शब्द का प्रयोग करता है एक ही है वो लेकिन अपने लिए भी हम शब्द का प्रयोग करता है दोनों बातें हो सकती हैं विक्रम जी प्रेमता से प्रेम से रखा ये एक भाषा है भाव की भाषा ये ग्रंथ ऐसा है आर्याभिविनय इसमें यद्यपि लड़के मतलब तो बच्चे उसको कोई गलत अर्थ में नहीं लीजिए लेकिन एक सामान्य भाषा में बोला गया है यहाँ पर लिखा हुआ है यानी हम उनके बच्चे हैं लड़के हैं ये तो भाषा का प्रयोग है हम उसको अर्थ शब्द को ठीक नहीं मानते हैं उतना आजकल लेकिन लोक भाषा में प्रचलन है जैसे पुत्र के उसमें ऐसे लड़के के रूप में लड़का लड़की इस रूप में प्रचलित है वो किया जा सकता है ऐसा आप कह सकते हो तो इसलिए तो लड़के मांग रहा है परमात्मा से ये जो मांग रहा है ना ये जो भाषा है ये लड़के की तो भाषा है देखो <laughs> आपके पुत्र हम लोग जब पूर्णानंद में रहेंगे तभी आप पिता की शोभा है दो तरह से मांगा जाता है एक तो मेरे को आवश्यकता है मुझे दीजिए एक सामने वाले को बता करके कि मेरे को देने में आपका हित है ये लड्ढी की भाषा है एक तो कोई भिक्षुक मांगने जाए कि मुझको अन्न दीजिए भोजन दीजिए शिष्य गुरु के पास जाए कि मेरे को ज्ञान दीजिए पढ़ाइए ये एक प्रार्थना की भाषा है एक दूसरी भाषा है कि मेरे को अन्न दीजिए इसमें आपका भला है मैं साधु हूं मुझको दीजिए इसमें आपका भला है आपको बहुत पुण्य होगा अध्यापक को <laughs> विद्यार्थी कहे कि आप मेरे को ज्ञान दीजिए इसका आपका इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा <laughs> आपकी शोभा होगी आपका यश होगा ये आग्रहपूर्ण भाषा है कई बार ये भाषा अशिष्ट भी होती है कई बार चतुराई पूर्ण भी होती है लेकिन कई बार प्रेम पूर्वक आग्रह लिए हुए भी होती है वो अच्छा या बुरा भाव के ऊपर निर्भर करता है कई बार व्यक्ति जैसे वस्तुओं को बेचने वाला है जो अपने स्वार्थ के लिए काम को कर रहा है सेल्समैन जो होते हैं वस्तुओं को बेचने वाले दुकान वाले वो आकर के उस वस्तु के बहुत लाभ बताएंगे कि इससे आपको ये हो जाएगा इससे आपको ये हो जाएगा इससे ये हो जाएगा आपको ये लाभ मिलेगा ये सुविधा हो जाएगी आप इसको खरीद लो वो खरीदने वाला जानता है कि ये किस लिए कर रहा है अपनी कमाई के लिए कर रहा है इसका मूल उद्देश्य मेरे को लाभ पहुंचाना नहीं है उसका मूल उद्देश्य अपना धन कमाना है ताकि मेरी वस्तु अधिक बिके मेरा यंत्र अधिक बिके खरीदने वाले को सबको पता है इस जगह जो ये भाषा बोली जाएगी वो अलग है अथवा किसी से हमें कोई कार्य करवाना होता है एक तो हम अपनी इच्छा को व्यक्त करें कि जी आप ये सहयोग कीजिए आप ये कर दीजिए उसमें एक विनम्रता रहती है प्रार्थना रहती है लेकिन कुछ व्यक्तियों का स्वभाव होता है वो झुकना नहीं चाहते विनम्र नहीं हो सकते लेना तो है सामने वाले से लेकिन विनम्रता नहीं है विनम्र नहीं हो सकते वो तो दूसरे को क्या कहते हैं कि आप ये कर लें तो अच्छा रहेगा ये आपके लिए अच्छा रहेगा आपको मैं सलाह दे रहा हूं उपकार भी करना दिखाएंगे आपके लिए मैं आपके हित के लिए कह रहा हूं लेकिन प्रयोजन क्या होता है वो ऐसा करेगा तो मेरे को मेरा हित हो ऐसे चतुर लोग भी होते हैं ऐसी चतुराई से भी ये भाषा बोली जाती है प्रयोजन अपनी अपने स्वार्थ की सिद्धि है लेकिन ये नहीं कहेंगे क्योंकि वो विनम्र नहीं है आप ऐसा कीजिए मेरे को ये लाभ होगा आपसे इतनी विनम्रता नहीं है और दूसरा अपना एहसान भी दूसरे पे जताना चाहते हैं कि देखो मैं आपको सलाह दे रहा हूं आप ऐसा करोगे तो आपको अच्छा हो जाएगा तो समझदार व्यक्ति समझ जाता है कि ये मेरे हित के लिए बोल रहा है या अपने हित के लिए कर रहा है विनम्रता से बोल रहा है या विनम्र हुए बिना ये लाभ प्राप्त करना चाहता है और ऊपर से एहसान और बताना चाहता है ये स्वभाव से पता लग जाता है सामने वाले के लेकिन ये जो भाषा है ये महर्षि की ऐसी भाषा नहीं है और न वो ऐसा भाव रख रहे हैं इस चतुराई वाला भाव नहीं है ये ये प्रार्थना ही है लेकिन अपना मान करके एक अपना मान के आग्रह है एक लड़कपन है इसके अंदर ये भाव हो सकता है परमात्मा के प्रति जब स्नेह होता है अत्यंत आत्मीयता होती है तो ये वाक्य निकलते देर नहीं लगती ये भाषा निकल जाएगी इसलिए उसको लौकिक दृष्टि से ना देखें कि यहां लड़का शब्द लिखा है और उस महर्षि ने जिस भाव से यहां पर लिखा है उतने तक इसको ले सकते हैं इतना ही रखते हैं ओम का उच्चारण शांतिरक्ष शांति पृथिवी शांतिराप शान्तिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शांति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः सर्वेभ्यो नमः